एकांत देश में बैठ करके इंद्रिय मन नियमन करके ध्यान करने के पहले यम नियम आता है समदम में साधन षटक में है तो मनुष्य से इंद्रियाणांच एकाग्रम परम तप इंद्रिय मन की एकाग्रता मन को एकाग्र करना इंद्रियों को अपने विषय से हटा करके नियमन करना उसके पश्चात भक्त्या गुरु प्रणम्य गुरु को प्रणाम करे प्रकर्षण नमन कृत्वा ध्यान जप आदि करते समय जप मंत्र जप करे तो मंत्र जिनसे लिया उनका चिंतन करना है ध्यान करते समय जिस प्रकार ध्यान करना है जैसा सीखा है जिनसे उनको भी प्रणाम करे प्रणाम करके आगे ध्यान करना है अनंतरम ध्यान के करना है परमात्मा का हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिंत्य मध्य विशदम विशोकम अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम विचिंत्य हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम हृदय कमल है पुंडरिक के कमल विशुद्धम विरजम विशुद्धम रजो रहित है रजगुण का कार्य हो नहीं नहीं तो होने से विरजम कहा जाता है विगतम रज यत पुंडरिका तत्पुंडरिकम विरजम हृदय कमल राग द्वेषादि रहित विशुद्धम विशेषण शुद्धम तजन्य राग दुषादिजन्य दुखादि रहित तम गुण रजगुण रहित तो ऐसे मध्य विशदम विशोकम विचिंत्य विचिंत्य विशेषण ध्यान करके उसे हृदय कमरे में के अंदर में स्थित है विशदम का तो स्वच्छ निर्मल है विशोकम शोक रहित शोक कारण रहित विशोक अचिंत्यम वो परब्रह्म अचिंत्य है चिंतन का विषय नहीं है वाणी मन का विषय नहीं है अचिंत्यम अव्यक्तम व्यक्त नहीं कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है प्रकट इंद्रिय गम्य नहीं उनसे व्यक्त नहीं अव्यक्त है उसमें कोई गुणा नहीं है रूप रस स्पर्श आदि गुण नहीं इंद्रिय विद्या नहीं अव्यक्तम अनंत रूपम अनंतम रूपम यस्य अविद्यमानम अंतम यस्य तदनंतम जिसके रूप का अंत नहीं अनंत रूपम अनंत रूप में एक तो रूप सगुण ब्रह्म में रूप बहुत ही और निर्गुण ब्रह्म का अनंत रूप का अनंत स्वरूपम अनंत है अविद्यमान अंतु तद अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अंतरहित अंत का था परिच्छेद सीमा केवल अंत का अंतिम नाश ये अर्थ नहीं परिच्छेद किसी तरफ अंत नहीं होता है किसी देश में अंत नहीं किसी काल में अंत नहीं किसी वस्तु में उसका अंत नहीं अर्थात देश परिचिन्न नहीं घट एक देश में है अन्य देश में नहीं है इसलिए घट होता है देश परिचिन्न और उत्पत्ति के पहले घट नहीं था तोड़ देंगे तो घट नहीं रहेगा ध्वंस हो जाएगा इसलिए घट हो गया काल परिचिन्न और वस्तु परिचिन्न भी है घट से भिन्न पट है ब्रह्म सर्वदेश में सर्वत्र सर्वदा स्थित है सर्वव्यापक है इसलिए देश परिचिन्न नहीं है और नित्य है उत्पत्ति नाश रहित तो, काल परिचन्न नहीं है काल परिचन्न तो ही होता है जिसका नाश हो या था जिसकी उत्पत्ति हो ब्रह्म की उत्पत्ति नाश नहीं नित्य है और वस्तु परिचन्न तभी हो कोई पदार्थ उससे भिन्न कोई हो तो सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ब्रह्म से बिना कुछ नहीं सारे पदार्थ जो दिखते हैं नेह नानास्त किंचन श्रुति उसका निषेध करती है है ही नहीं दिखता है तो है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते हैं चक्षुरों के श्री चंद्र दो दिखता है दो नहीं है पितर वन से पीला पीला दिखेगा पीलिया होने पर पित्त नहीं है स्वप्न में बहुत कुछ पदार्थ आप देखते हैं नहीं होने पर भी इसी प्रकार ये पदार्थ दिखने पर भी है नहीं इसको कहते मिथ्या जो नहीं होने पर भी दिखता है बंध्या पुत्र मिथ्या है नहीं तो सत्य है बंध्यापुत्र मिथ्या नहीं है वो असत है मिथ्या तो जो सत नहीं हो असत नहीं हो ब्रह्म ही एक सत है राज्य में जो सर्प है वो सत नहीं असत नहीं क्योंकि असत हो तो दिखता नहीं दिखना चाहिए बंध्यापुत्र कभी किसको दिखता नहीं है किसने नहीं देखा सत नहीं असत नहीं और दोनों उभय भी नहीं हो सकता है कोई पदार्थ सत असत दोनों नहीं होता है वही मिथ्या है अनिर्वचनीय उसको कहते हैं तुम न सक्य थी तो अनिर्वचनीय निर्वचन नहीं कर सकते है रज्जु सर्प को प्रपंच को माया का भी निर्वचन नहीं कर सकते सदरूप से निर्वचन निरूपण नहीं किया जा सकता है असद रूप से भी निरूपण नहीं हो सकता है उभय रूप से भी निरूपण नहीं हो सकता है इसलिए उसको कहते हैं अनिर्वचनीयम वचनीयम है वचन से कहने योग्य हो तो वचनीयम शब्द से कहा जा सकता है शब्द से मतलब किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता ये अर्थ नहीं है माया जगत प्रपंच सर्प रजु सर्प ऐसे तो कहते हैं सदरूप से नहीं कहा जा सकता है वचनियम सदरूपेण वचनियम न असद रूपेण असद रूप से भी वचनियम न सद असत उभय रूपेण भी वचनीय न इसलिए अनिर्वचनीय निर्वचन निर्वचनियम निशेषण वचनीय कथन योग्य ठीक ठीक करके कथन किया जा सकता है तो निर्वचनीय न निर्वचनीय इत अनिर्वचनीय निर्वचन सद है ऐसा निर्वचन नहीं कर सकते जगत को स्वप्न प्रपंच को रज्जु सर्प को माया को तो नहीं सत नहीं तो असत कहेंगे असत भी रूप से निर्वचन निरुक्ति निरूपण नहीं कर सकते असत्य असत होता तो बंध्या पुत्र जैसा नहीं दिखना चाहिए जगत दिखता है रजु सर्प दिखता है इसलिए माया का कार्य प्रतीत होता है असत बंध्या पुत्र का कार्य कुछ नहीं होता है इसलिए असत रूप से निरूपण नहीं होगा सत नहीं असत नहीं तो उभय होगा सद भी हो असत भी हो ऐसा निरूपण नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ किसने नहीं देखा अभी तक जो सत्य भी हो और असत्य भी हो ऐसा नहीं होता है इसलिए सदरूपेण निर्वचन नहीं हो सकता है असत रूप से निरूपण नहीं हो सकता है सद असत उभय रूप से जिसका निरूपण नहीं हो सकता है वो निर्वचनीय नहीं है उसको कहते हैं अनिर्वचनीयम माया है अनिर्वचनीय जगत अनिर्वचनीय मिथ्या है यद असत भाषमान तन मिथ्या स्वप्न आदिवत जो नहीं होने पर भी दिखता है उसको कहते मिथ्या विद्यमान नहीं होने पर भी दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है तो जगत दिखता है किंतु मिथ्या है तो उसका रूप स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप अनंत है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित तो। वस्तु परिच्छेद इसलिए नहीं क्योंकि ब्रह्म से बिना कुछ भी पदार्थ नहीं है जो दिखता है प्रपंच मिथ्या है नहीं है पारमार्थिक तो ये अनंतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म अनंत है इतने अर्थ विचार करके निश्चय करे जिसका देश काल वस्तु परिच्छेद नहीं है सर्वत्र है सर्वदा है और ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं कहेंगे तो सब कुछ ब्रह्म ही है वासुदेव सर्वम तो जीव ब्रह्म से भिन्न होगा नहीं आत्मा ब्रह्म से भिन्न या नहीं ईश्वर ब्रह्म से भिन्न या नहीं कुछ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं जड़ पदार्थ परमाणु पर्वत आदि भिन्न या नहीं हम्म जड़ भी भिन्न नहीं चेतन तो भिन्न नहीं जड़ भी भिन्न नहीं तो क्या ब्रह्म जड़ है क्या जड़ की सत्ता ही नहीं है ब्रह्म से भिन्न जड़ नहीं रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं हुँ? हम्म? नहीं रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है किंतु रज्जु सर्प से भिन्न है रज्जु सर्प से भिन्न है रज्जु अधिष्ठान सर्प से भिन्न है सर्प से रज्जु भिन्न है या नहीं रज्जु सर्प से भिन्न है सर्प से रज्जु भिन्न है है नहीं अध्यस्त से अधिष्ठान भिन्न है इसको और दो तीन बार पूछेंगे तो फिर गलत हो जाएगा अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है किंतु अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही नहीं है ऐसे विचार करना अध्यस्त है तो वो नहीं है अधिष्ठान तो अध्यस्त से भिन्न है रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प दिखेगा रज्जु में जो सर्प दिखता है रज्जु ज्ञान होने के बाद सर्प वहाँ रहेगा नहीं रज्जु रहेगी सर्प नहीं रहने पर भी रज्जु रहती है इसलिए सर्प से भिन्न है रज्जु है रज्जु को हटा देंगे तो सर्प दिखेगा रज्जु सर्प रज्जु को छिपा देंगे तो सर्प दिखेगा इसलिए सर्प रज्जु से भिन्न नहीं इस प्रकार प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है कुछ भी पदार्थ भिन्न नहीं प्रपंच से भिन्न है ब्रह्म प्रपंच से भिन्न है प्रपंच नहीं रहने पर ब्रह्म रहेगा क्या इसलिए भिन्न है प्रपंच नहीं रहने पर ब्रह्म रहेगा माया से भिन्न है ब्रह्म माया से भिन्न है माया के बिना ब्रह्म रहेगा कब रहेगा ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान होने पर माया की निवृत्ति हो जाएगी तो ब्रह्म रहेगा हम्म। इसलिए ब्रह्म माया माया कार्य से भिन्न है और ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं तो अनंत रूपम अनंत स्वरूप है उसका स्वरूप अनंत है सगुण ब्रह्म में रूप अनंत है अनंतानि रूपाणी यश्य माया से ही अनंत रूप दिखता है वास्तव रूप नहीं है और अनंत का अर्थ अपरिचिनम रूप स्वरूपम रूपम का अर्थ स्वरूपम यश्य परमात्मा का स्वरूप अपरिचिन्न स्वरूप है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित शिवम देश परिचिन जो होता है कौन होता है देश परिचिन अत्यंताभाव प्रतियोगी देश परिच्छिन्न में देश परिच्छेद रहेगा देश परिच्छिन्न तो रहेगा देश परिच्छिन्न घट है उसमें देश परिच्छिन्न तो है देश परिच्छेद है देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रतियोगित्व काल परिच्छेद क्या है प्राग भाव प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व वस्तु परिच्छेद क्या है अन्योन्याभाव प्रतियोगित्व प्रतियोगी प्रतियोगी क्या पूछा वस्तु परिचय ठीक है परिचय प्रतियोगित्व वस्तु परिचय कौन होगा जो अन्य भाव का प्रतियोगी और वस्तु परिचिन्न तो क्या है अन्य भाव प्रतियोगित्व वस्तु परिच्छिन्न है वस्तु परिचिन वस्तु परिचिनत्व किम अन्य हवा प्रतियोगित्व वस्तु परिचिनत्व है वस्तु परिच्छेद है हाँ वस्तु परिच्छेद कहो वस्तु परिचिनत्व कहो एक ही तो ब्रह्म में अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व है नहीं है क्यों नहीं ब्रह्म का अत्यंत अभाव कहीं नहीं होता है ब्रह्म में ध्वंस प्रतियोगित्व है या नहीं क्यों नहीं नित्य है उसका ध्वंस नहीं उत्पत्ति नहीं वस्तु परिच्छेद है या नहीं ब्रह्म में वस्तु परिच्छेद क्या है अनन्य भाव प्रतियोगितम ब्रह्म में है या नहीं नहीं तो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है अनंत स्वरूपम शिव है कल्याण स्वरूप है मंगल रूप है प्रशांतम प्रकर्षण शांतम प्रकाशम प्रशांतम शांत केवल सुश्रुति अवस्था में सब शांत हो जाता है वो शांत नहीं प्रशांतम प्रकर्ष शांत क्या है सुश्रुति अवस्था में मूल कारण अविद्या रहती है ब्रह्म प्रशांत कहन से अविद्या भी उसमें नहीं है अविद्या अस्मिता अविद्या अविद्याजन्य कार्य कुछ भी नहीं ब्रह्म में जो माया अविद्या कहते अनादि है वो ब्रह्म से भिन्न है या नहीं नहीं है तो उसमें माया वस्तु तो है ही नहीं माया भी आरोपित है माया नाम को कोई पदार्थ नहीं है इसलिए उसको कहते अनिर्वचनीय मिथ्या है तो प्रशांत कहन से ब्रह्म में माया है या अविद्या है माया अविद्या कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं है जो माया अविद्या कहते वो भी अज्ञान अवस्था में अनिर्वचनीय माया है क्योंकि उसका कार्य दिखता है अमृतम अमृत है ब्रह्म तीनों काल में एक रूप रहता है परिणाम कुछ नहीं होता है तो मृत मृत्यु आदि धर्म रहित नित्य है ब्रह्म योनिम ब्रह्म योनि में ब्रह्म और योनि ऐसा दो पद कर सकते हैं ब्रह्म भी है और सबका कारण भी है माया से कारण कहा जाता है अथा ब्राह्मण योनि ब्रह्म योनि ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म उसका कारण दोनों प्रकार हो सकता है हृत पुंडरिकम हृदय हृदय पुंडरिक कमल हृदय कमल के सदृश है हृदय कमलम हृदय कमल स्वयं ब्रह्म नहीं हृदय कमल में बुद्धि है बुद्धि में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती वहाँ पर ब्रह्म है हृदय कमल में तो है तला में जो कमल है उसके अंदर ब्रह्म है या नहीं है कमल में तो है अन्य पुष्पा में है पत्थर में है सर्वत्र होने पर भी हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय कमल में है दहरम पुंडरिकम विषम का इसलिए बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती विशेष अभिव्यक्ति बुद्धि से बुद्धि में होने से बुद्धि में हे कहते हैं जो आप यहाँ दिखते हैं तो आप यहाँ है ब्रह्म बुद्धि में अनुभूत होता है साधन करने वाले वही हृदय कमल भी उसका अनुभव करते हैं ब्रह्म अंतकरण का परिणाम है ब्रह्माकार वृत्ति अहम अस्वयं ब्रह्म इस अनुभव बुद्धि में है और ब्रह्म सामान्य चेतन तो सर्वत्र है अंतकरण में उसका विशेष भान होता है चिदाभास जैसे दीवाल में अभी प्रकाश दिखता है ये बिजल लाइट सब बंद कर देंगे तो दीवार में प्रकाश दिखेगा नहीं दिखेगा दिखेगा बोलो ठीक है इतने क्या डरना है बिल्कुल नहीं दिखेगा बिजली बंद कर दे दीवार बिल्कुल नहीं दिखेगा दिखेगा आज जोर से बोलो ऐसे लगता है जैसे सब सोए है निद्रा सुश्रुति अवस्था में है सुश्रुति समाधि अवस्था में नहीं अभी प्रश्न उत्तर करते समय जागृत अवस्था में जैसे बोलो बिजली लाइट बंद करेंगे तो प्रकाश दिखेगा किसका प्रकाश है सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य अभी सूर्य नहीं दिखने पर भी सूर्य का प्रकाश इधर उधर फैल करके प्रकाश दिखता है दिखता है ना नहीं हाँ और उसमें यदि कोई प्रकाश सूर्य किरण में दर्पण रखेंगे तो उसमें दीवार में अधिक प्रकाश दिखेगा एक एक में विशेष प्रकाश दिखेगा दर्पण दो तीन चार पाँच दर्पण रखेंगे तो अलग अलग दर्पण का प्रतिबिंब दिखेगा दीवार में ऐसा अधिक दर्पण रखे तो प्रतिम्ब दिखेगा हाँ ये विशेष प्रकाश दिखता है दर्पण प्रतिम्ब सामान्य प्रकाश दीवार में है और दर्पण दिखाएं तो उसमें प्रतिम्ब दिखेगा विशेष प्रकाश जहाँ दर्पण का प्रतिम्ब विशेष प्रकाश दिखेगा वहाँ सामान्य प्रकाश है क्या सामान्य प्रकाश है विशेष है दोनों है जहाँ दर्पण का प्रतिम्ब नहीं वहाँ विशेष प्रकाश है सामान्य प्रकाश है सामान्य प्रकाश जिस प्रकार सर्वत्र है और दर्पण प्रतिम्ब जहाँ दिखता है वहाँ भी है वहाँ विशेष प्रकाश है इसी प्रकार सामान्य चेतना पत्थर दीवाल सर्वत्र है और हृदय में बुद्धि में विशेष चेतन चिदाभास विशेष चेतन जो है चेतन नहीं है चेतन का प्रतिबिंब है चेतन जैसे लगता है उसको क्या कहते हैं चिदाभास चिदवद आभासत है चेतन जैसे भासता है चेतन है ही नहीं वो विशेष चेतना है बुद्धि में बुद्धि में विशेष चेतना है और बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति अहम अस्मी ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होने से हृदय में स्थित कहा जाता है हृदय कैसे पंच छिद्रादि विशेषण पंच छिद्रादि विशेषणानि यस्य पांच छिद्र है सप्तल अष्टाद अष्टदल अष्टादल है नीचे मुँह करके उसको ऊपर करके ध्यान करना है विभिन्न प्रकार का शुद्ध स्वयं छिद्र नाड़ी सिरा निकलती है विरजम विगत रजस्तम विगतम रजो यस्मात रज जिसमें नहीं है रजगुण होने से ही पाप काम क्रोध राग द्वेष आदि होते हैं विरज का अर्थ अपगत राग द्वेषादिकम अपगतम राग द्वेषादि यथ राग द्वेषादि रहित जितने रजगुण अधिक होगा इतने काम क्रोध लोभ राग द्वेष अधिक है जब सत्सात्र चिंतन सत्संग करते सप्तोगुण बढ़ता है सात्विक भोजन करेंगे तो रजोगुण कम होगा रजोगुण बढ़ेगा तो स्थिर नहीं हो सकता है ज़्यादा मिर्ची खाने वाला ही कहता है मुझे बहुत मिर्ची खाता था वो बैठ नहीं पाएगा खाएगा तो चलेगा कहीं साइकिल लेकर के कभी पकौड़ा ला कर दिया तो मैं एक थोड़ा टुकड़ा लिया मैं समझ गया क्यों दौड़ता है टुकड़ा लेते ही इतने कष्ट है आगे नहीं खा पाए वो तो खाएगा तो क्या होगा वो तो खाते खाते अभ्यास हो जाता है पानी वो भी पानी निकलेगा आंख आंख नाक से पानी निकलेगा तो भी खाएंगे और खा कर फिर दौड़ेंगे इधर उधर भागो फिरो जितने रजोगुण अधिक है इतने चांचल्य है और केवल चांचल्य नहीं काम क्रोध राग द्वेष बहुत ही बहुत रजोगुण अधिक है इसलिए रजोगुण कम करना चाहिए सप्तोगुण बढ़ने से रजोगुण कम होगा रजोगुण को बढ़ाने चाहिए कब जब तमोगुण अधिक है कोई सोता रहता है तमोगुण का कार्य है सोकर उठ गया फिर थोड़ा कुछ जलपान आदि कर दिया फिर दो तीन घंटा सो गया फिर कभी कभी भोजन के समय पे पता नहीं चला पता नहीं चला जा करके कहीं दूसरे स्थान दुकान में खा लो रुपया है दो दो दुकान में खा लेते हैं फिर सो गया <laughs> तो ये सोना निद्रा तंद्रा आलस्य तम गुण का कार्य है उसको जीतने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है रजोगुण से एक महात्मा इसे उसको नींद लगती थी महाराज जी से जाकर कहा क्या करें नींद लगती महाराज जी कहा नींद क्यों लगती नींद कर जाओ गंगा जी से पत्थर लेकर आओ मंदिर में चार तरफ दौड़ो बोला मंदिर में दौड़ने से नींद नहीं जाती तो बोले गंगा जी से जाकर पत्थर लाओ वो जा करके गंगा जी से बड़े बड़े पत्थर उठा कर लाता था इकट्ठी कर दिया बहुत पत्थर रोज रोज नींद लगती रोज भोजन के करने के बाद भी महाराज जी के भोजन भी थोड़ा नियम से खाओ ज़्यादा नहीं खाओ नींद लगी मेरा भूख लगती है चलो कोई बात नहीं पत्थर ले आओ तो दौड़ कर जाता था गंगा से पत्थर लेकर आता था तो निद्रा दिन में लगे तो उसको जीतने के लिए तमोगुण अधिक होता है तो रजगुण से इसे कुछ करे झाड़ू लगाए कुछ कर्म करे तो तमगुण को जीत जाए इसलिए गुरुकुल में रहते समय कुछ सेवा आदि करते हैं इसीलिए सेवा के तो करना कोण शुद्धि इसके द्वारा तम गुण को जीतने के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ कर्म करने से देह के लिए भी परिश्रम करने से देह स्वस्थ रहता है तो आसन आदि कर सकते बैठ सकते ध्यान कर सकते नहीं तो शरीर ऐसे हो जाता है शिथिल हो जाता है थोड़े समय में कहते दो घंटा हम सोते हैं बहुत लोग का अभ्यास बन जाता है ना दो घंटा बिना सोए नहीं चलेगा ऐसा अभ्यास नहीं करना चाहिए साधु को दीवा निद्रा त्याग करना है तो तमगुण को जीतने के लिए रजगुण आवश्यक है और रजगुण अधिक होगा तो उसको सत्वगुण होने से सत्वगुण अधिक होने पर शांति प्रकाश ज्ञान तब वेदांत आदि विचार होगा ध्यान होगा जप होगा तब जब ज्ञान हो जाएगा तो गुणातीत तो हो जाएगा किंतु गुणातीत तो होने के लिए क्रम से जाना पड़ता है तो रज कहने का अभिप्राय है रज गुण रहित है अपगत राग द्वेषादिकम विरजम विरज कहने का तो फिर विशुद्धम कहा अत्यंत विशेषण शुद्धम विगत समस्त दुखादि दोषम रजगुण नहीं होने से दुखादि दोष रहित तो, शुद्ध पाप भी कम हो जाता है रजगुण अधिक हो तो पाप करेगा काम क्रोध लोभ आदि होगा विचिंत्य विचिंत्य चिंतन करके विशेषण ध्यात्वा ध्येय चिंताएं धातु ये ध्यान है चिंतन निरंतर चिंतन करना विशेष रूप से ध्यान करके किसको ध्यान करना हृदय कमल को हृदय पुंडरिक से अंत हृदय पुंडरिक में अंदर है पर ब्रह्म वही उसको जो ध्यान करते ही साकार का भी जो ध्यान करते पहले बाहर ध्यान करते ही धारणा पहले करते धारण ध्यान के पहले देश बंध चित्त से धारणा चित्त को किसी देश में लगाना अभि अभ्यास करना पड़ता है बाहर किस देश में लगाया चिंतन किया चित्त इधर उधर जाता है स्वभावतः लगातार चिंतन करे उसके पहले कोई त्राटक अभ्यास करते हैं किसी वस्तु को देखते रहते हैं लगातार देखते रहो देखते देखते देखते आंख से पानी आ जाएगा आंख बंद हो जाएगी किंतु लगातार देखते रहे ये अभ्यास करते करते फिर मन को लगाए किसी वस्तु में बाहर अथवा अंदर बाहर पहले लगाए सगुण का ध्यान करते हैं तो सगुण भगवान का फटो आदि रखते हैं कोई उसके बिना भी रूप चिंतन करते हैं और यदि कर सकते हैं तो उसके बाद अंदर रूप का ध्यान करने के बाद हृदय कमल में इष्ट देवता को बैठाए मानस पूजा करते हैं सामने भगवान है सोच करके पूजा अभिषेक आदि करते हैं तो उसे ध्यान हो जाता है सामने है परमात्मा इसे चिंतन करते हैं उसके बाद हृदय कमल में ऐसे परमात्मा बैठे कमल ऐसा है वो तो कमल को ऐसा किया परमात्मा बैठे उनका चिंतन करें सगुण चिंतन करने वाले ऐसे चिंतन करते हैं तो निरंतर चिंतन करते करते ऐसे चिंतन करे मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं रहे बीच बीच में पहले तो मन इधर उधर भागता ही है मन को लगा कर इसे रखे तो कभी कभी नींद आ जाती है विक्षेप और लय वो दोनों समाप्त हो गया तो फिर लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ अच्छा ध्यान हो रहा है तो ये ध्यात्री ध्यान परित्यज क्रमाध्यय का गोचर निवात दीप चित्तम समाधि अभिधीयते मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं रहे पहले तो ध्यान लगता नहीं फिर ध्यान लगने के बाद ये लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भी निरंतर इतने ध्यान करे ध्येय विषय का चिंतन करते रहते ध्येयाकार हो जाए ये तब तक ध्यान करते रहते ही रहना चाहिए कि ध्येय से अतिरिक्त मैं ध्याता हूँ ध्यान कर रहा हूँ ये बीच में भावना जो है आती है उस समय ध्यान टूट गया ध्यान नहीं रहा तो ध्यान लगातार चले तो ये भावना भी नहीं रहे और जो निर्गुण चिंतन करते हैं अहम अस्मि ब्रह्म वेदांत श्रवण किया जीव ब्रह्म की एकता सुन लिया एकता का श्रवण कर लिया श्रवण करने के बाद मनन करने से मैं ब्रह्म से निश्चय हो तो लगातार उसका चिंतन करें चिंतन हृदय में अहम अस्म ब्रह्म अंतकरण वृत्ति होती है तो ऐसे चिंतन करके विशेषण ध्यात्वा जो इसे वेदांत श्रवण नहीं करते चिंतन नहीं हो पाता है तो भी ध्यान कर सकते हैं मैं ब्रह्म इसे चिंतन अहंग्रह उपासना कहते हैं जितने उपासना ध्यान है सब में से श्रेष्ठ है अहंग्रह उपासना अहम सिम परम ब्रह्म चिंतन जो वेदांत श्रवण के बाद मनन नहीं करते हैं उनका निधि ध्यासन नहीं होता है ध्यान होता है तो ध्यान भी आशा साधन है किंतु निधि ध्यासन से निकृष्ट है निधि ध्यासन को नहीं समझ पाते हैं जो मनन नहीं करते हैं ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है निधिध्यासन प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो नहीं समझ पाते वो ध्यान को ही समझ लेते हैं निधिध्यासना स्वयं निधिध्यासन जो नहीं कर पाते नहीं जानते हैं लोगों को निधिध्यासन क्या सिखाएंगे वो ध्यान जैसे करते वो लोगों को सिखाते इसलिए लोग भी भ्रांत हो जाते हैं भ्राह्म को कोई से बताएगा निधिध्यासन स्वयं नहीं कर पाए तो उसको पता नहीं चलता है ध्यान और निधिध्यासन में निधिध्यासन भी एक ध्यान है किंतु ध्यान जितने सौ निधिध्यासन नहीं है निधिध्यासन भी एक ध्यान है निधिध्यासन ताभ्याम निर्भि चिकित्सर्थ है चेतस स्थापित से एक तानवत्म एतद्धि निधिध्यासन मुच्यते श्रवण मनन से संशय दूर होने पर चित्त स्थिर हो जाए अहमअस्मी ब्रह्म एकतानत्वम लगातार चले अस्मी ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह वो निधिध्यासन है तो श्रवण मनाने के बाद ही निधिध्यासन होता है संशय दूर होने के बाद संशय दूर होने के बाद निधिध्यासन किस लिए करना है विपर्य की निवृत्ति के लिए विपरीत भावना देह में अहम बुद्धि अनादिकाल से इतने दृढ़ है श्रवण कर लिया समझ लिया शास्त्र तात्पर्य युक्ति से भी समझ लिया तो भी देह में अहम बुद्धि नहीं जाती है तो निधि ध्यान करना पड़ेगा तो ये विशेष ध्यान करना हृदय कमल में कोई तो सगुण का ध्यान करते कोई निर्गुण का ध्यान करते और श्रवण मनन हो गया तो अंतकण में ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव होता है तो हृदय पुंडरिक से अंत उसको ध्यान करें विशदम विशोकम विशद है निर्मल स्वच्छ है शुद्ध स्फटिक संकाशमित शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ है निर्मल है कोई मल रहित मल नहीं विशोकम विगत शोक रहित विगत शोक ज दुखम विशोकम शोक शोक दुख रहित शोक का कारण भी नहीं हो तो विशोक होता है ब्रह्म शोक का कारण ये संसार है शोक अविद्या आदि तरती शोकम आत्मविद संसारी शोक है अविद्या कार्य अविद्या अविद्या है शोक का कारण ब्रह्म में वो शोक अविद्या नहीं है इसलिए विशोक है ब्रह्म उसका ध्यान करें पहले विचिंत आया आगे भी ध्यात्वा मुनिर्गछति नवम में दसम में आएगा उसके साथ संबंध करना उसका ध्यान करके आनंद पूर्ण हृदय स्मितानंदम से इत्यर्थ शोक रहित होने से आनंद पूर्ण आनंद पूर्णम हृदय में से हृदय में आनंद भरा आनंद रूप ब्रह्म है वो पूर्ण है और जब ऐसे ध्यान करता है पर ब्रह्म आनंद रूप का ध्यान करता है स्मितानन चर्थ स्मितम आननम प्रसन्न बदनम प्रसन्न बदन पर ब्रह्म का भी है और स्वयं यदि कोई इसे चिंतन करता है उसका हम कोई प्रसन्न हो जाता है परमात्मा का चिंतन करता है तो स्मितानन चर्थ वस्तु तस्तु अचिंत्य का अर्थ करते अचिंत्य का अर्थ वांग मनसा अतितत्व न प्रत्यय संतत्य वाणी मन का विषय नहीं है तो वाणी का विषय नहीं है शब्द का विषय नहीं शब्द से नहीं कहा जा सकता है कोई भी शब्द नहीं किसी शब्द का सामर्थ्य नहीं ब्रह्म को कहने के लिए शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है शक्ति जिसमें हो शक्ति सामर्थ्य पद पदार्थ संबंध उसको पद से कहा जा सकता है और शक्ति वही है जहाँ पद प्रवृत्ति का निमित्त हो वही शक्ति है वही शब्द प्रवृत्ति का कुछ निमित्त होता है घट अर्थ में शक्ति है पुष्प में भी शक्ति है फल में भी शक्ति है किंतु घट पद की शक्ति पुष्प में या फल में है पुष्प पद की शक्ति पुष्प में है फल शब्द की शक्ति पुष्प में है नहीं तो शक्ति जहाँ है सब शब्द की शक्ति वहाँ नहीं है सामर्थ्य पद, पद, प्रवृत्ति का निमित्त वहाँ है किंतु किसी भी पद की प्रवृत्ति के लिए निमित्त नहीं है गो पद प्रवृत्ति होती वहीं पद की प्रवृत्ति जहाँ गोत्व हो घट पद की प्रवृत्ति होगी जहाँ घटत्व हो मनुष्य उसको कहते हैं जहाँ मनुष्यत्व हो ये शब्द प्रवृत्ति का निमित्त शब्द की प्रवृत्ति का तो शब्द का प्रयोग होता है प्रामाणिक प्रयोग और कोई पागल तो कह सकता है फल खाता है कहता है हाथी का राम कह सकता नहीं ये पागल तो कह देगा शब्द प्रामाणिक प्रयोग शब्द की प्रवृत्ति होती जहाँ प्रवृत्ति का निमित्त हो तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या क्या होती जाति गुण क्रिया संबंध आदि ब्रह्म में जाति गुण क्रिया संबंध नहीं होने से किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती किसी भी शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए तो जब ब्रह्म शब्द है वो ब्रह्म को कहेगा नहीं कहेगा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जितने भी शब्द है सब लक्षणा से कहेंगे शक्ति से कोई नहीं कर सकता है इसलिए वाणी का अभिषय कहा गया अवांग से गोचर वाणी का अभिषय है अवांग से गोचर ब्रह्म अनिर्वचनीय है माया अनिर्वचनीय का तो सद असत रूप से नहीं कहा जाएगा तो उसको कहते अनिर्वचनीय ब्रह्म को अनिर्वचनीय नहीं कहते ब्रह्म है अवाच्य अवांग मनुष्य गोचर कहीं कहीं अनिर्वचन कह देते यदि अनिर्वचन कहेंगे तो उसका अर्थ समझना अनिर्वचने का अर्थ शब्द किसी शब्द का अर्थ नहीं वस्तु तो अनिर्वचन है जो सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उसको अनिर्वचन कहते हैं अब ब्रह्म अवाच्य का अर्थ किसी भी शब्द का वाच्य ब्रह्म नहीं किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती ब्रह्म को कहने के लिए क्योंकि ब्रह्म निर्धर्म कहे जाति गुण क्रिया संबंध कुछ नहीं है तो ये हो गया अब शब्दादि अशेष विशेष शून्यवाद शब्द स्पर्श रूपादि कोई विशेष नहीं है ये ना उसके पहले वस्तु तो स्वचिंत्य वांग मन से अतीत न वाणी मन के अतीत होने से प्रत्यय संतति अभिषय प्रत्यय संतति का विषय प्रवाह प्रत्यय प्रवाह का विषय नहीं होगा जैसे इंदिरादि से ज्ञान होता है मन से ज्ञान होता है वस्तु का ज्ञान का प्रवाह हो सकता है ये तो अचिंत्य है वांग मन अतीत है तो इसे उसका चिंतन नहीं हो सकता है चिंतन नहीं हो सकता ध्यान नहीं हो सकता है शुद्ध ब्रह्म का चिंतन वांग मन तो क्यों है उसके हेतु देते हैं वांग मन सातीत तो हेतु अव्यक्तम वो अव्यक्त होने के कारण वाणी मन का विषय नहीं जो व्यक्त होता है शब्द स्पर्श रूप आश्रित विशेषण वाला हो वो तो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण का व्यक्त होगा ब्रह्म तो शब्दादि अशेष विशेष शून्यवाद शब्दादि जितने विशेष कोई भी विशेष ब्रह्म में नहीं सारे विशेष रहित निर्विशेष है इसलिए अस्पष्टम चक्षुरादि प्रमाण से मन से नहीं जाना जा सकता है अव्यक्तम अव्यक्त ब्रह्म का रूप कहन से क्या हुआ शून्यवादी बौद्ध कहते ब्रह्म नाम को कोई पदार्थ नहीं असत ही सब कुछ है असत एव इधम अग्र आसित इधम अग्र असत ये जो नाम रूपात्मा प्रपंच सृष्टि के पहले असत था असत के साथ था था का तो आसित असत का था तो न सत असत जो असत वो आसित आसित का सत जो असत है वो सदरूप था असत सत कैसे होगा आसित क्रिया प्रयोग करने से असत का तो शून्य तुच्छ नहीं है अव्यक्त अर्थ है अनभिव्यक्त था अनभिव्यक्त को तो वेद में असत कहा वो कहा कथम असत असत जाए तो असत से ये जगत की सत्य की उत्पत्ति कैसे होगी सत्व एकदम अग्रासी सदरूप था ऐसे श्रुति में कहा गया तो भी कोई कोई असत को मानते तुच्छ असत ध्यान कर बैठे किसी का अनुभव नहीं होता है सब समाधि लगाया साधन करते करते ध्यान में बैठ गया किसी का भान नहीं होता है तो आकर के उपदेश करते और कुछ ही नहीं सब शून्य है शून्य को देख करके उपदेश करते हो शून्य को जान करके शून्य को जानने वाला प्रकाश करने वाला कोई यदि नहीं है तो शून्य में क्या प्रमाण है शून्य को जानने वाला तो रह गया तो शून्य तुच्छ कैसे होगा इसलिए अव्यक्त कहने से क्या सिद्ध होता है असत्वम बारयते अव्यक्त सद असत्व को वारण करता है अव्यक्त है असत नहीं नहीं दिखता है तो नहीं ये बात नहीं ये अभी इसमें धूलिकर्ण नहीं दिखते सूर्य किरण आ जाएगी तो धूलिकर्ण दिखेगा कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत कीड़े होते हैं नहीं दिखते हैं तो नहीं बात है अनुवीक्षण यंत्र दिखते हैं तो छोटे छोटे होते हैं इसे नहीं दिखता है तो नहीं ऐसा नहीं वायु आंख से दिखता है ना नहीं वायु तो वायु है ये इसमें हाँ ऐसे वस्तु बहुत है नहीं दिखने पर भी है तो अव्यक्त है अव्यक्त खान से असत नहीं है और परिच्छेदम च थी वो ब्रह्म परिच्छिन्न नहीं है नहीं दिखने पर भी व्यापक सर्वत्र है अव्यक्त कौन से व्यक्त नहीं सारा जगत उसे उत्पन्न हुआ अव्यक्त होकर के सर्वत्र विद्यमान है आकाश के समान अनंत रूपम च न विद्यते अंत यत्ता रूपाणाम शरीराणाम यसे सो अनंत रूप जिसका रूप का अंत नहीं यता इतने ही शरीर है ऐसा नहीं तो रूप है स्वरूप उसकी इतना नहीं इतने स्वरूप है ये वो हो गया सगुण ब्रह्म में रूप बहुत है और निर्गुण ब्रह्म है तो उसका अंत स्वरूप अंत परिच्छेद रहित है आगे कहते हैं देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम अनंतम सगुण ब्रह्म में रूप अनंत है और देश काल परिच्छेद रहित होने से अंत परिच्छेद रहित है स्वरूप अनंतम रूप में से रूप का था स्वरूप देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम ब्रह्म में देश काल वस्तु परिच्छेद से कौन सा परिच्छेद है घट में कौन सा परिच्छेद है अनंतम शिवम मंगल रूपम मंगल स्वरूप है शिव शब्द का प्रशांतम प्रकर्षण शांतम अविद्यादि रहितम अविद्या काम कर्म संसार दोष रहित है प्रशांत ये संसार तो दिखता है ब्रह्म में दिखता है किंतु ब्रह्म के साथ इसका कोई संबंध नहीं है असंग ही एम पुरुष आत्मा असंग है अधिष्ठान के साथ अध्यस्त वस्तु का संबंध नहीं होता है दिखता है संबंध उसको कहते आध्यासिक संबंध आरोपित संबंध मरुभूमि में भ्रांति से जल दिखता है उस तो जल का संबंध मरुभूमि में नहीं है इसी प्रकार ये सारा जगत अध्यस्त है ब्रह्म में उसका कोई संबंध नहीं है तो अविद्यादि दोष रहितम ब्रह्म अमृतम कालत्रय असंसृष्टम कालत्रय संबद्ध है अमृतम जितने काल संबद्ध है सब मरण धर्म वाले ये कालत्रय से असंस्पृष्ट कालत्रय अतीत अथवा अमृतवद व निरतिशय आनंद रूपत्व निरतिशय आनंद रूप है अमृत के समान अमृत के समान नृत्य से आनंद रूप होने से ब्रह्म है बृहत सर्वव्यापक है ब्रह्म सर्वस्मात अधिकम और योनि कारण है जगत जन्मादि कारण योनि है कारण यथे तद विशेषण जातम तद्वत स्वरूपम अपनी विशेषण जातम जिस प्रकार ध्यान करके स्वरूपम अपनी ध्यात्वा विचिंत्य ध्यान करके स्वरूप का भी ध्यान करना स्वरूप का अर्थ तो ब्रह्म का स्वरूप है स्व स्वस्य रूपम स्वरूपम अपना स्वरूप रूप भी वही है वही स्वरूप का ध्यान करना ध्यान करके आगे चिंतन करेंगे आगे भी ध्यात्व के साथ संबंध है ओम सह सहनौ भुन सह करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओ शांति शान्तिः शान्तिः